न्याय दर्शन में सांख्य में भी भेद आत्मा का परस्पर भेद न्याय न्याय के लोग भी ईश्वर भिन्न जीवात्मा भिन्न इसे मानते हैं अनुमान प्रयोग किया गया था जीव ईश्वराद भिन्न विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् विरुद्ध धर्म है जीव बद्ध है ईश्वर मुक्त है ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान ऐसे विरुद्ध धर्म से युक्त होने के कारण जीव ईश्वर से भिन्न जीवों का परस्पर भी भिन्न भेद सिद्ध हो जाएगा इसके लिए सिद्धांत ने कहा तो दो तीन विकल्प क्या था कल्पित चिदाभास में भेद सिद्ध करने से कोई आपत्ति नहीं और द्वितीय कल्प कहा था अन्यश्च भूत विशेष का समाहार सचेतिक चेतना विशिष्ट चेतना विशिष्ट माने अथवा सूक्ष्म स्तर में चिदाभास को प्रतिबिंब को माने दोनों कल्प में सिद्ध साधन और चतुर्थ कल्प नहीं तृतीय कल्प है बुद्धि आदि से अतिरिक्त आत्मा अलग है इसको पक्ष बनाएंगे बुद्धि देहादि से अलग आत्मा का पक्ष बना करके ईश्वर का भेद सिद्ध करना ऐसे कोई ईश्वर से अन्य बुद्धि आदि अतिरिक्त आत्मा पहले सिद्ध हो उसको पक्ष बनाना और ईश्वर से भेद सिद्ध करना ये सिद्ध ही नहीं उनसे आश्रय असिद्धि दोष है ईश्वराद अन्य आत्मा नास्ति इति वदता अच्छा पूरा पीछे कहता है ये तो हो गया ईश्वर से अन्य बुद्धि आदि भेद से व्यतिरेक कल्पना करेंगे तो लक्षण भेदाति हेतु का आश्रय पक्ष जीव से भिन्न ईश्वर से भिन्न कोई आत्मा प्रसिद्ध नहीं होने से आश्रय सिद्ध दोष है ईश्वर आद अन्य से आत्मन असत्वाद तो पूर्व ऋषि कहता है शंका करता है ईश्वराद अन्य आत्मा नास्तिति वदता ईश्वर से अन्य आत्मा है ही नहीं श्रुति प्रमाण से सिद्धांत कहता है नान्य अतोस्ति दृष्टा श्रोता मनता परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं श्रुति कहती है तो ईश्वर से अन्य आत्मा नहीं से कहने वाले तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध कहा जाता है सर्व उपाधित ईश्वर एव आत्मा इति उत्तम से उत्तम भवति सारे देह इंद्रिय आदि उपाधि में स्थित जो आत्मा है कर्ता भोक्ता है ईश्वर से नहीं तो ईश्वर ही है सारे देह देहादि संघात में आत्मा है सुख दुख भोग करने वाले व्यवहार करने वाले दृष्टा कर्ता मनता श्रोता है यदि ईश्वर से अन्य है नहीं तो ईश्वर ही आत्मा सर्वत्र यदि सर्वत्र ईश्वर ही आत्मा तो बद्धत्व मुक्तत्व आदि विरुद्ध धर्मत्वम सुख दुख आदि योगस्य असंगस्य विरुद्ध प्रसज्येत तो यह आत्मा कभी बद्ध है अभी संसार अवस्था में बद्ध है और कोई साधन करके ज्ञान प्राप्त कर ले मुक्त हो गया एक ही ईश्वर बद्ध भी मुक्त है ईश्वर में बद्धत्व और मुक्तत्व ये तो विरुद्ध धर्म एक में बद्धत्व मुक्तत्व दोनों एक साथ कैसे रहेगा आदिप से संसारित्व संसारित्व जन्म मरण वाला जन्म मरण रहित और एक सर्वज्ञ अल्पज्ञत्व सुख दुख आदि पुण्य पाप सम है एक में उसे पुण्य पाप का अभाव है क्योंकि ईश्वर से भिन्न कोई नहीं ईश्वर से भिन्न जीव नहीं जो पुण्य पाप वाला है वो है ईश्वर पाप रहित तो अपत पाप भी ये तो विरुद्ध धर्म ईश्वर में प्राप्त हो जाएगा भेद नहीं मानव तो ठीक है जीव में बद्धत्व है ईश्वर में मुक्तत्व है जीव में पाप है ईश्वर में पाप पुण्य नहीं है ये तो संभव हो जाएगा ऐसा नहीं मान कर ईश्वरी सर्वतजेत आत्मा हुआ तो ये व्यवस्था कैसे बनेगी बद्धत्व मुत्तत्व आदि विरुद्ध धर्म होने से विरुद्ध धर्म आपत्ति आएगी ये भी विरोध है सुख दुख आदि योगस्य सुख दुख आदि सब ईश्वर में एक में असंगस्य अयो आत्मा ईश्वर असंग है उसमें सुख दुख आदि संबंध बद्धत्व मुत्तत्व आदि विरुद्ध धर्म सब धर्म ईश्वर में विरुद्ध प्रसजेत इत अतो वास्त सिद्धांत कहता है वास्तवम असंसारित्वम कल्पित न संसारित्व न न विरुद्धते वास्तव है असंसारी वास्तव संसारित्व है नहीं कल्पित है कल्पित न संसारित्व न वास्तव मरुभ में जल नहीं अकल्पित जल दिखता है कल्पित जल के साथ वास्तव जल अभाव का विरोध है ना नहीं कोई विरोध नहीं वास्तव जल अभाव है अकल्पित जल हो कोई आपत्ति नहीं कल्पित संसारित्व से वास्तव में न विरुद्धते इति दर्शयितुम हां यदि संसारित्व वास्तव मानेंगे असंसारित्व वास्तव मानेंगे तो दोनों में विरुद्ध विरुद्ध होता है एक वास्तव एक कल्पित तो विरुद्ध नहीं इति दर्शयितुम यस्य यस्य अंतकरणादि विकारस्य उदयादे सन्निधि मात्रेण आत्मा निमित्तम तस्य तस्य लोके अहंकार आदि भी विपरीत रूप से अध्यारोपणाद आत्मन संसारित्वम इत्याह यशेष अंतकणादि विकारस्य अंतकण देहादि कार्य उदयादे उदय नाश जैसे घट आकाश एक होने पर भी घट उत्पन्न हुआ तो घटाकाश उत्पन्न हुआ घट नष्ट हो गया तो घटाकाश नष्ट हो गया एक घट को नष्ट कर देंगे घटाकाश नष्ट हो गया और कोई घटाकाश कहीं रहेगा अन्य घट में घटाकाश है जिस घट का नाश हो गया वो घटाकाश नष्ट हो गया कहा जाता है जो घट उत्पन्न हुआ वो घटाकाश उत्पन्न हुआ इसी प्रकार जिस जिस अंतकरण में उदय देना उदय उदयादे सन्निधि मात्रेण अंतकरण में उत्पत्ति तरंग सुख दुख सन्निधि मात्रेण आत्मा निमित्तम आत्मा स्वरूप का निमित्त है अंतकरण में उत्पत्ति आदि कुछ विकार होता है सब के लिए आत्मा निमित्त है आत्मा निमित्त होने के लिए सन्निधि मात्रण कुछ करना नहीं पड़ता है सन्निधि मात्रण से निमित्त है सब उसके समता से उसके स्पुरण से सब प्रकाशित है सब में कुछ दिखता है वान होता है विकार होता है तस्य तस्य लोकेर आदि वीर वही अहंकार आदि है उपाधि है विपरीत रूप से अध्यारोपणाद विपरीत रूप का आरोप किया गया आत्मन विपरीत रूप आरोप करके सुख दुख जन्म मरण आदि आत्मन संसारित्वम आकाश में कोई उत्पत्ति नाश है ही नहीं नित्य मानते तार्किक लोग तो भी घट उत्पन्न हुआ तो कहते घट आकाश उत्पन्न हुआ घट नष्ट हो गया तो आकाश तो रहेगा उसको घट आकाश नहीं कहते इसलिए कहते घट आकाश नष्ट हो गया विशेषण नाशा तो विशिष्ट का नाश इसी प्रकार अंतकण में उदय अस्त विकार सुख दुख ये सब जितने सन्निधि मात्र से आत्मा उसका निमित्त होता है तस्य तस्य लोके अहंकार आदि भी विपरीत से अध्यारोपणाद विपरीत रूप आरोपण करके आत्मा में संसारित्वम इत्याह न यहाँ पूर्व पिछले ने कहा ईश्वराद अन्य से आत्मन सत्वाद ईश्वर से विरुद्ध लक्षणत्वम अयुतमिति चेत सुख दुखादि आदि योगश्च पूर्व जी का कथन होने से सिद्धांतिकता न निमित्तत्व सति लोक विपर्य अध्यारोपणात् सावित्रीवत निमित्त है आत्मा जितने जितने सब सुख दुख विरुद्ध धर्म दिखता है ये निमित्त है आत्मा आत्मा में नहीं विरुद्ध धर्म वो दिखने के लिए निमित्त हुआ निमित्तत्वे सति लोक विपर्य अध्यारोपणात् लोके विपर्य विपरीत आरोप क्या गया सवित्रिवत सूर्य में जैसे विपरीत आरोप होता है कैसे सूर्य में विपरीत आरोप होता है यथा सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्व स्थिति लोक दृष्टि विपरण उदय अस्तमय अहोरात्र आदि कर्तृत्व अध्यारोपम अध्यारोप भाग भवति एवम सविता सूर्य मैं प्रकाश दिन में रहता है रात में रात में भी रहता है रहता है नित्य प्रकाश रूप है सविता यथा सविता नित्य प्रकाश रूप है लोक लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्व लोक के अभिव्यक्ति का निमित्त अनभिव्यक्ति का निमित्त निमित्त हुआ कभी प्रकाश दिखता कभी नहीं दिखता है लोक दृष्टि विपरण और आरोप करते सूर्य अभी अभी उदय हुए अभी अस्त हो गई चले गई लो सूर्य जैसे कोई से दिखता है तो उदय हुआ सूर्य है नहीं दिखता है तो सूर्य अभी नहीं है उदय समय और रात्र दिन और रात सूर्य दिन करता है रात करते हैं दिन रात दोनों करते हैं जो दिखता है तो कहते दिन हो गया नहीं दिखता है तो रात हो गया सूर्य के ऊपर आरोप करते अहोरात्रादि कर्तृत्वम अहोरात्रि कर्तृत्व दिन रात बनाने वाला अहोरात्रि सुबह दोपहर मध्यान्ह ऊपर आ गए तो मध्यान्ह बना दिया उधर चले गए तो शाम बना दिया ऐसे कर्तृत्व का आरोप करते हैं अध्यारोप भाग सूर्य में आरोप किया जाए में भजते इत अध्यारोप भाग सूर्य हो जाता है लोग आरोप करते अभी दिनों का अभी दिन हो जाएगा सूर्य भगवान उदय होंगे दिन हो जाएगा थोड़ी देर बाद में दोपहर हो जाएगा व्यस्त हो जाए रात बना देगा कहीं दिन कर देता है कहीं रात कर देता है लोक आरोप करते हैं एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृति आदि निमित्तत्वे सति लोक विपरीत बुद्धि अध्यारोपितम विपरीत लक्षणत्वम च सुख दुखाश्च न स्वतः सुख दुखादयश्च एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूप नित्य विज्ञान रूपे और तो विज्ञान को शक्ति रूप का <clears throat> टीका में स्पष्ट करेंगे लोक ज्ञान अपह ज्ञान का अपह विस्मरण ज्ञान होता है ज्ञान का विस्मरण विस्मरण सुख दुख स्मृति आदि निमित्त है आत्मा विज्ञान स्वरूप आत्मा सबका निमित्त होने पर लोक विपरीत बुद्धिया आधारपितम विपरीत बुद्धि भ्रांति से आरोपित है ईश्वर में क्या आरोपित है विपरीत तो जन्म मरण सुख दुख आदि सुख दुखदाश्च न स्वतः आरोपित है विपरीत लक्षणत्व सुख दुख आदि स्वतः नहीं ए टीका में ईश्वरे सुखादि आदि उक्ते ईश्वर में सुखादि के आरोप कहेंगे तो माया उपाधि के ब्रह्मणी ईश्वर शब्द वाच्य सुखादि अध्यास शंका स्यात् तन्निवृत्त समाह ईश्वर तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर कहते हैं माया विशिष्ट चेतन माया उपाधि का ऐसे भी कहते हैं सुख दुख आदि का आरोप ईश्वर में नहीं है माया उपाधि के ब्रह्मणी ईश्वर शब्द का जो वाच्यार्थ उसमें सुख आदि का अध्यास आरोप होता है ये शंका की निवृत्ति करने के लिए भाष्य में कहा ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे ईश्वर का लक्ष्य तो शुद्ध चेतन में सब आरोप सारा जगत आरोप है ईश्वर में नहीं नित्य विज्ञान शक्ति रूपे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे इसलिए दिया नहीं तो ईश्वर है माया विशिष्ट चेतन माया उपधिक ब्रह्म में सुख दुख आदि आरोप माया उपधिक में आरोप नहीं माया उपाधि के ईश्वर तो स्वयं माया आरोपित होने से और अध्यस्त कोटि में आ जाएगा शुद्ध चिन्ह मात्र में सारा आरोपित है तो शुद्ध चिन्ह मात्र में कर्तृत्व भी आरोपित है जगत कर्तृत्व भी आरोपित है संसारित्व भी आरोपित है सब कुछ आरोपित है तो अक्षमा भवता केयम साधकत्व प्रकल्पने केन पश्यसि संसारम तत्रैवा ज्ञान कल्पितम साधकत्व प्रकल्पने भवतः केयम क्षमा असहिष्णुता कर्ता भक्ता साधक मुक्त ये मुमुक्षु ये साधकत्व जगत कर्तृत्व ये सब कल्पना करने के लिए तुमको क्यों अक्षमा असहिष्णुता किन्न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम सारा संसार अज्ञान से कल्पित शुद्ध ब्रह्म में सारा ब्रह्मांड यदि कल्पित है तो साधक तो कल्पना करने में क्या आपत्ति है सब कुछ शुद्ध चेतन में आरोपित है न कि माया विशिष्ट में इसलिए भगवान वासिका ने ईश्वर कह करके नित्य विज्ञान शक्ति रूपे कहा विज्ञान स्वरूप नित्य विज्ञान स्वरूप में संसारित्व आदि सारा संसार आरोपित है विज्ञान शक्ति रूपे विज्ञान शक्ति विज्ञान की शक्ति विज्ञान शक्ति क्या है इसलिए कहते टीका में यथा अग्नि आदि शक्ति ही शक्ति अंतरम अंतरेण स्वस्वभावादेव कार्य उत्पादन अनुकूला अग्नि से शक्ति दूसरे शक्ति के बिना स्वस्वभाव से ही दाह स्फोट आदि कार्य उत्पादन के अनुकूल है जिस प्रकार अग्नि शक्ति अन्य शक्ति के बिना कार्य उत्पादन के लिए अनुकूल है तथा नित्य विज्ञान जो ब्रह्म स्वभाव सन्निधि मात्रेण स्वभाव तो सन्निधि मात्र कुछ नहीं करके अन्य कोई शक्ति के बिना अंतकणादि प्रवृत्ति निमित्तम अंतकरणादि प्रवृत्ति का निमित्त इति शक्ति रूपम उच्यते शुद्ध ब्रह्म को नित्य विज्ञान को शक्ति रूप कहा गया अग्नि शक्ति जैसे स्वभाव से दासपट कार्य अनुकूला इसे शुद्ध ब्रह्म स्वभाव सन्निधि मात्र न सब अंतकरणादि के प्रवृत्ति का निमित्त मन केन सीता पहले प्रश्न किया था मन जाता है मन इंद्र का प्रेरक मन इंद्र में प्रेरणा होता है स्वभाव स्वभावतः तो चैतन्य के द्वारा चैतन्य मन इंद्र को कहता है तुम जाओ या लाठी दिखाता है अपने स्वभाव से प्रवृत्त होते हैं किंतु आत्मा चेतना निमित्त मात्र है स्वभावतः तो सन्निधि मात्र न निमित्त इसलिए उसको शक्ति रूप कह दिया शक्ति रूप मुच्यते तस्मिन् स्वातन्त्र्याद ईश्वर उपलक्ष्य विरुद्ध अनेक धर्माध्यास न विरुद्धते इत्यर्थ तस्मिन् ईश्वर पद लक्ष्य ईश्वर पद का लक्ष्य है वो स्वतंत्र स्वातंत्र्याद तस्मिन् स्वातंत्र्याद ईश्वर पद लक्ष्य स्वातंत्र्याद ईश्वर पद स्वातंत्र है शुद्ध चेतना स्वतंत्र है अधिष्ठान की सत्ता अन्य सत्ता के अधीन नहीं है अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान सत्ता के अधीन है अधिष्ठान की सत्ता अन्य सत्ता अधीन नहीं स्वतंत्र सत्ता कम स्वातंत्र उसकी सत्ता अन्य सत्ता के अधीन नहीं स्वातंत्र्याद तस्मिन स्वातंत्र्याद स्वतंत्र होता है ईश्वर पद का लक्ष्य शुद्ध चेतन उसमें ही विरुद्ध आने का धर्माध्यास विरुद्ध धर्म अनेक अनेक विरुद्ध धर्म अनेक विरुद्ध धर्म वास्तव नहीं रह सकते अध्यास हो सकता है विरुद्ध धर्म एक स्थान में वास्तव नहीं रहेगा आरोप करने में आपत्ति है कुछ नहीं आरोप करो वो तो चिंटी हाथी को ले लिया जानकर कोई कहता है कल्पना कर सकते ना नहीं कल्पना कर सकते हाथी को लेकर जाता है फेंक दिया उस पार को सब लोग मानते नहीं तो चलो नहीं तो नहीं चिंटी ने फेंक दिया चलो देखो हम फेंक देते हैं कल्पना करते रहो मनोराज कल्पना करते ऐसे ये सब कल्पित होने में कोई आपत्ति नहीं विरुद्ध धर्म वास्तव विरुद्ध धर्म नहीं रहेगा न विद्यति ते लोक से आप हो विस्मरणम लोक आप हो लोक के ज्ञान का अपो विस्मरण मत स्मृति ज्ञान अपोहनंच गीता में आया सब कुछ अर्पण है न स्वतः स्वतः उसमें कुछ नहीं शुद्ध चेतन में स्वतः कुछ नहीं है सब आरोपित है न स्वतः न परमार्थ तो विरुद्ध अनेक धर्मवत्वम त्यर्थ इसलिए विरुद्ध अनेक धर्मवत्वम पारमार्थिक नहीं है कल्पित है कल्पित विरुद्ध धर्म रहेगा तो अधिष्ठान एक होगा भिन्न हो जाएगा भिन्न हो जाएगा और कल्पित धर्म बहुत रहने पर अधिष्ठान तो अधिष्ठान जल कल्पना करे मरुभूमि में तो मरुभूमि मरुभूमि रहेगी गीली हो जाएगी अब मरुभूमि तो सुखा ऐसा ही सुखा कल्पना करते रहो लोग देखते रोज मरुचिका तो भी जैसे कोई सही है भ्रांतस्य स्वदृष्टि अनुरूप अध्यास आरोप दर्शनाच न अध्यास वस्तु क्षति कर इत्यास जब भ्रांत है अपने दृष्टि के अनुरूप ही आरोप करता है अध्यास आरोप करता है भ्रांत रज्जु में सबको सर्प दिखेगा कोई रज्जु कहता है कोई कहता नहीं सर्प दोनों में भ्रांत कौन है सर्प दिया एक कहता नहीं सर्प नहीं वो तो माला है माला किसने ने डाल दी एक कहता नहीं भूछिद्र मिट्टी में कोई रेखा खींच लिया कोई कहता है लकड़ी है कोई कहता नहीं पानी धारा जल धारा बहुत कल्पना करते हैं बहुत कल्पना कर सकते हैं अपने दृष्टिकोण से आज उसको जैसे लगता है कल्पना करता है इसलिए क्या अर्थ हुआ अध्यास करेंगे आरोप करेंगे अधिष्ठान में क्या आपत्ति है जल आरोप करेंगे तो नीचे गीला गिरा होती गीली होती भूमि ना अध्यास वस्तु क्षति कर अध्यास वस्तु क्षति कर नहीं वस्तु जैसे वैसे अधिष्ठान का कुछ नहीं बिगाड़ेगा आप आरोप करते रहो राज्य में बड़े-बड़े सर्प आरोप करके लोग दौड़ कर भागे हाथ पर तोड़ दिया तो रज्जु में रज्जु तो रहेगा या परिवर्तन हो जाएगा कुछ नहीं रज्जु तो रज्जु वस्तु क्षति करनी आत्म दृष्टि अनुरूपाध्यारपाच अपने दृष्टि के अनुसार अध्यास करते हैं अंध को हाथी दिखाए पकड़ाए हाथ लगाए जैसा पूछा अंध कैसे जैसे पैर पकड़ा था क्या बोलेगा हाथी कैसे केला के पेड़ पेड़ जैसे केला के पेड़ पकड़ा है अरे पैर पकड़ा तो अरे ये तो केला के पेड़ जैसे आते हुआ कोई दांत को पकड़ लिया तो क्या कहेगा हाथी कैसे है क्या सब बल जैसे दांत को पकड़ा ना देखो हाथी कैसे बोला हाथी तो सब बल जैसे कोई तो कान पकड़ा तो क्या कहेगा सूप जैसे और पूछ पकड़ा तो साहब जैसे और कोई पे, पे, पेट में हाथ लगाते बोला ये तो पत्थर जैसे पहाड़ जैसे बड़ा पत्थर चट्टान जैसे अपने दृष्टि के अनुसार सब सदृष्ट अनुरूप से दिखता है तो ये अभ्यास अलग अलग करेंगे तो हाथी एक रूप रहेगा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा कुछ नहीं ना सर्प है ना सबल है ना केला का के पेड़ है तो जैसे वैसे ही आत्मदृष्टि अनुरूप अध्यास यथा घनादि विप्रकिन अंबरे मेघ आकाश में मेघ हो गया ये नैव सवित्र प्रकाश न दृश्यते सूर्य नहीं दिखता है स आत्मदृष्टि अनुरूप में बध्यस्यति सविता इदानीमेव न प्रकाशते प्रकाशयति सूर्य अभी प्रकाश नहीं करते ही कोई कहता है सूर्य अभी है ही नहीं आकाश में अंधकार में बादल ढक गया कहां सूर्य सूर्य ही नहीं आज न प्रकाश है कोई कहता प्रकाश नहीं करता इति सत्यव प्रकाश अन्यत्र भ्रांतिया अन्यत्र प्रकाश होने पर भी कभी-कभी यहां प्रकाश नहीं है पहाड़ के ऊपर दिखता है धूप देखा होगा कभी यहां बिल्कुल अंधकार जैसे हो गया पहाड़ के ऊपर दिखता है धूप और यहां बिल्कुल रात में सूर्य प्रकाश नहीं दिखता है अन्यत्र कहीं सूर्य प्रकाश दिखेगा यहाँ रात है तो कहीं दिन ही अन्यत्र सूर्य प्रकाश होने पर भी कहते इदानी यह न प्रकाशयति ये भ्रांति से आरंभ करते हैं एवं यह बौद्धादि वृत्ति उद्भव आविभवा कुल भ्रांतिया अध्यारोपित सुख दुखादि उपपद्यते बौद्धादि वृत्ति बुद्धेर इमे बौद्धादि वृत्तय बुद्धि का अंतकरण प्राण आदि वृत्ति के उद्भव अभिभव उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ से आकुल हो जाता है व्याकुल विशिष्ट अंतकण होकर के भ्रांति से अध्यारोपित आरोपित है सुख दुख आदि योग आत्मा में आरोपित सुख दुख आदि उपपद्यते है में बौद्धादि वृत्ति नाम उद्भवाभिभवाभ्याम आकुलस्य बुद्धि की वृत्ति बौद्ध बुद्धिरिमेति बौद्धा अमृतय बुद्धि की वृत्ति है इंद्र का व्यापार प्राण का व्यापार इनके उत्पत्ति उद्भव और अभिभव कभी प्रकट हो गया कभी समाप्त हो गया नष्ट हो गया इसे आकुल हो गया आकुल में क्या है वैचित्यम आपन से विचित्रता चित्त में विकार ऐसे वृत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति नाश होने पर अब चित्त में वैचित्य हो गया चित्त में कुछ पता नहीं चलता कभी सुख कभी दुख ऐसे भ्रांत हो गया आपनस्य से वृत्ति नाम एव उद्भव अभिभव न तद व्यापक चैतन्य सेति विवेक शून्य लोकस्य प्रांत्या उत्पत्ति नाश वृत्तियों का और वृत्ति के अंदर बाहर रहने वाले व्यापक चैतन्य का ना तो उत्पत्ति उसकी है ना तो नाश है जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं घट की उत्पत्ति घट का नाश तो उत्पत्ति घट आकाश उत्पन्न हो गया घट आकाश नष्ट हो गया ऐसे लोग को कहते हैं वृत्तियों का उद्भव अभिभव है वृत्ति नामेव उत्पत्ति नाश न तद व्यापक चैतन्य से वृत्तियों में व्यापक सर्व वृत्ति में एक चैतन्य व्यापक होकर के व्याप्त होकर के उस चैतन्य की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं इति विवेक शून्य लोकस्य ऐसा विवेक जिसको नहीं है वो कहता है उत्पन्न नष्ट ऐसे कहते सुख दोष भ्रांतिया भ्रांति से आरोपित होता अपने दृष्टि के अनुसार आरोप करता सुखी दुखी जन्म मरण आदि सब चैतन्य से ज्ञान सुखादि उत्पादे निमित्तत्वम न केवलम अन्य के सिद्धम चैतन्य में ज्ञान सुखादि चैतन्य ज्ञान सुखादि उत्पत्ति के लिए केवल निमित्त है अन्य व्यतिरिक सिद्ध नहीं चैतन्य के कारण ज्ञान सुखादि है ऐसा निमित्त हुआ अन्य व्यतिरिक से अन्य व्यतिरिक होता है जैसे मृत सत्व घट सत्वम अन्य हुआ मिट नहीं तो घट नहीं बने या व्यतिरिक हुआ इसी प्रकार चेतन के संबंध से सुख दुख आदि चेतन की अभिव्यक्ति जहाँ हुई वहां ज्ञान सुख आदि है अंतकण में और चैतन्य का अभिव्यक्ति घट में पत्थर में नहीं होने से उसमें ज्ञान सुख आदि नहीं होता है तो चैतन्य होगा निमित्त अन्य के सिद्ध केवल नहीं तस्मरणाच स्मृति में कहा गया भगवद वाक्याच त सिद्धम इत्यर्थ भगवान के वाक्य से सिद्ध है कहा भाष्य में तस्मरणाच तसे शिव स्मरणार्थ ईश्वर का स्मृति में कथन किया गया मत स्मृति ज्ञान अपोहनं च भगवान कहते स्मरण ज्ञान विस्मरण मेरे से ही नादत्य कसिचित पापम किसको नहीं पाप ना पुण्य फल नहीं देता ईश्वर अतो नित्य मुक्त नित्य मुक्त एकस्मिन् सवितरीव लोक अविद्या आधारितम ईश्वर संसारितम नित्य मुक्ते एकस्मिन सवितरिव एकस्मिन् नित्य मुक्ते एक नित्य आत्मा है एकस्मिन् सवितरिव जैसे एक सूर्य में लोक आरोप करते हैं इसी प्रकार एक नित्य ईश्वर में लोक अध्या अविद्या आरोपितम लोक की अविद्या अज्ञान से आरोपित होता है ईश्वरे संसारितम संसारित आरोपित है संसारित आरोपित किसमें ईश्वर में शुद्ध चेतन में शुद्ध चेतन में यहाँ ईश्वर जो दिया है उसका अर्थ करना पड़ेगा शुद्ध चेतन दिया है ईश्वरे संसारित्वम ईश्वर संसारी इति प्रसिद्ध अभावात ईश्वर संसारी से कोई कहता है ईश्वर में संसारित्व तो कैसा आरोप होगा ईश्वर को संसार तो कोई प्रसिद्ध नहीं है विशिष्ट अनुगत चित स्वरूपेति व्याख्येयम ईश्वर का तो माया विशिष्ट चेतन माया विशिष्ट चेतन में चेतन रहेगा हाँ घटा घट है अवचिन चैतन्य अवचिन चैतन्य जैसे आकाश घट में मठ में गुहा में सर्वत्र है इसी प्रकार चेतन व्यापक है अवचिन चेतन को प्रमेय चेतन घट कहते हैं पटावचन को पट इत्यादि सर्वत्र प्रमेय भी चेतन है उसमें घटपट आदि अध्यस्त है विशिष्ट के में अनुगत है चित्त स्वरूप घटो अस्ति पटो अस्ति घटपट आदि सब विशिष्ट है किंतु घटपट आदि सर्वत्र अनुगत चेतन सदरूप विशिष्ट में अनुगत चित्त स्वरूप माया विशिष्ट चेतन है विशिष्ट उसमें अनुगत चित्त स्वरूप चित्त स्वरूप में सब आरोपित है माया विशिष्ट में नहीं विशिष्ट क्योंकि ईश्वर संसारी इसे प्रसिद्ध नहीं है विशिष्ट अनुगत चित्त स्वरूप इति व्याख्यम ईश्वर का अर्थ करना विशिष्ट अनुगत चित्त स्वरूप विशिष्ट है माया विशिष्ट उसमें अनुगत चित्त स्वरूप उसमें ही संसारित्व आरोपित है भाष्य में अतो नित्य मुक्त एकस्मिने सवितरिव लोक विद्या अध्यारोपितम ईश्वरे संसारितम शास्त्रादि प्रामाण्याद उप अभ्युपगतम असंसारित्वम इति अविरत लोको तो आरोपित तो लोक द्वारा संसारित्व शुद्ध चेतन में और वो असंसारित्व कैसे हुआ शास्त्र आदि प्रामाण्यात शास्त्र आप्तवाक्य स्मृति प्रामाण्यात अभ्यवगतम असंसारित्वम असंसारित्व में माना गया पारमार्थिक असंसारित्वम आरोपित संसारित्वम अति अविरोध कोई विरोध नहीं एतेन प्रत्येकम ज्ञानादि वेद प्रत्युक्ता जिस प्रकार यह भेद बताया ईश्वर जीव का भेद नहीं क्यों यदि चिदाभास में भेद सिद्ध करोगे तो क्या दोष है सिद्ध साधन अंतकण अभिवत चेतन अंतकण आरूढ़ चेतन में से भेद सिद्ध करो तो सिद्ध साधन चिदाभास विशिष्ट देहादि में आरोप करो तो सिद्ध साधन और शुद्ध चैतन्य में कहोगे तो भेद सिद्ध करने के लिए आशा सिद्ध दोष एतन का दोष सिद्ध होने से एतेन प्रत्येक एतेन ज्ञानादि प्रत्येक ज्ञानादि ये से प्रत्येक आत्मा भिन्न ये भी प्रत्याख्यात हो गया एतेन कहा था सिद्ध साधनत्वादि दूषण है प्रतिशरीर प्रतिशरीरम ज्ञान सुखादि आश्रय भेद प्रत्युत मंतव्य सिद्ध साधना आदि दोष से प्रति शरीरम भेद कहते अनुमान करते विरुद्ध धर्म ज्ञान सुख आदि विरुद्ध धर्म है इसलिए प्रति शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है यदि चिदाभास विशिष्ट को अंतकरण आदि को लोगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं वाच्यार्थ में भेद मानते और और देहादि संघात समा समूह जिसमें चैतन्य भी है इसमें मानो तो भी कोई भेद नहीं अशुद्ध में कहेंगे तो शुद्ध आत्मा ऐसे प्रत्यक्ष का विषय नहीं उसमें विरुद्ध धर्म भी सिद्ध नहीं है पारमार्थिक ये सो दोष एतेन का अर्थ कर सिद्ध साधनत्वादि दूषण है ना प्रतिसर ज्ञान सुख आदियों का आश्रय भेद तात्विक प्रत्युत भेद मतलब सब जीव में ज्ञान सुख आदि अलग-अलग है इस सब का आश्रय आत्मा में तात्विक भेद ये भी खंडन हो गया सुख दुख आदि दिखता कहाँ जहाँ सुख दुख देखेगा वहीं भेद सिद्ध होगा अंतकण में सुख दुख है और भेद सिद्ध करते आत्मा में हो जाएगा पर्वत में धूम देखा हृदय बनिवान अनुमान कर दिया तर्क पड़ा है जो नहीं पढ़ा डर जाए ना हृदय बनिवान वत्वा यत्र धूम सतर बनि यथा महानसम बता दिया तो जहाँ धूम देखते वहाँ बनी सिद्ध करो अन्यथा कैसे होगा दिखा दिया किंच व्यावर्तक धर्म वसाद व्यावृत सिद्धति भेदक धर्म जहाँ है वहाँ भेद सिद्ध होगा भेदक धर्म आप देखते तो सुख दुख को है जहाँ वहाँ भेद सिद्ध होगा सुख दुख अंतगण में तो अंतगण का भेद सिद्ध करो पुरुष में कैसे भेद सिद्ध होगा व्यावर्तक धर्म जहाँ है वहाँ व्यावृत्ति सिद्धि होगी सांख्य मत च पुरुषाणाम चैतन्य मात्र रूपाणाम न व्यापारत्व धर्मस्ति सांख्य मत पुरुष है पुष्कर पद्म पत्र जैसे चैतन्य मात्र स्वरूप है कोई धर्म नहीं तो भेद धर्म व्यावर्तक धर्म नहीं है सांख्य मत में वैशेषिक मत में व्यावर्तक धर्म है आत्मा में भेद सिद्ध करते हैं आत्मा में भेद कैसे सिद्ध होगा प्रत्यक्ष दिखेगा अपने आत्मा का प्रत्यक्ष सबको होता है दूसरे आत्मा का प्रत्यक्ष तो भेद सिद्ध हो जाएगा केवल अपने आत्मा का प्रत्यक्ष मात्र से अन्य आत्मा का भेद होने के लिए दो वस्तु चाहिए दो का प्रत्यक्ष ज्ञान दो का ज्ञान होगा तो भेद सिद्ध होगा एक वस्तु को देखने से भेद सिद्ध हो जाएगा आत्मा का प्रत्यक्ष है इतने मात्र से भेद सिद्ध हो जाएगा आत्मा भेद दूसरे आत्मा भी देखे दूसरे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो वैशेषिक मत है भेद कैसे सिद्ध करेंगे एक घट दूसरे घट से भिन्न है अयम घटः अस्मात् घटात् भिन्न भिन्न अवयव आरब्धत्वात् क्योंकि इसका अवयव भिन्न इसका अवयव भिन्न ये पुष्प दोनों का भेद है क्यों <laughs> दो है इसलिए दो है से भिन्न या भिन्न से दो हुआ ये दो है क्या क्यों नहीं ये भिन्न नहीं से दो नहीं हुआ है ना भिन्न क्यों नहीं क्योंकि दो नहीं एक है एक है दो नहीं इसलिए भिन्न नहीं एक है इसलिए भिन्न नहीं और भिन्न क्यों नहीं एक है एक होने से भिन्न नहीं या भिन्न नहीं होने से दो नहीं एक होने से भिन्न नहीं और भिन्न नहीं होने से एक है दो नहीं <laughs> दो क्यों नहीं क्योंकि भिन्न नहीं भिन्न क्यों नहीं क्योंकि दो नहीं एक मतलब दो नहीं तो ये अनुन्यास है ये भेद कैसे सिद्ध क्यों भेद कहाँ रहता है अपने में रहेगा अन्य में रहेगा भेद अपने में रहेगा क्या अन्य में रहेगा हैं दो पहले सिद्ध हो तो भेद सिद्धि क्यों ना दो कैसे कहोगे ये दो या तीन है क्यों कैसे पता चला भेद नहीं है भेद नहीं उनसे एक हुआ भेद रहेगा तो दो होगा दो सिद्ध होगा तो भेद रहेगा भेद रहेगा तो दो होगा कैसे भेद सिद्ध होगा <laughs> भेद अपने में रहेगा भिन्न में रहेगा भिन्न भिन्न कैसे होगा ये भेद इसका भेद इसमें रहे ये भिन्न है ये भिन्न है ना नहीं ये पुष्प भिन्न है ना नहीं बोलो पुस्तक से भिन्न नहीं भिन्न में भेद रहेगा ना तो भिन्न उनसे पुष्प का भेद पुष्प में रहे ये पुष्प से ये पुष्प भिन्न नहीं है भिन्न क्यों नहीं है भेद नहीं उनसे भिन्न नहीं है भिन्न नहीं उनसे भेद नहीं ये अनुन्यास है भेद कहां सिद्ध होगा ये कहते दो आत्मा का भेद सिद्ध करने के लिए दो आत्मा का प्रत्यक्ष हो वैशेषिक मत मतलब क्या अपने आत्मा का प्रत्यक्ष तो सबको होता है दूसरे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो आत्मा भेद सिद्ध होगा सर्व भेद सिद्ध हो जाएगा सुख दुख का आश्रय भेद सिद्ध हो जाएगा किंतु सुख दुख का आश्रय आत्मा के निश्चय हुआ कहते हम सुखी अहम दुखी से अनुभव बताए अहम सुखी अहम दुखी अनुभव से आत्मा में सुख दुख सिद्ध हो जाता है हो जाएगा नहीं अहम शब्द से किसको लेते हम मनुष्य हो स्थूल हम कृषो हम अहम गच्छामि आत्मा में गमन है क्या स्थूलत्व है तो अहम सुखी दुखी कहते हो यदि प्रमाण मानोगे आत्मा में सुख दुख स्थूल हम मनुष्य हम गच्छामि ये भी प्रमाण हो जाएगा आत्मा में मनुष्यत्व तो है ना नहीं आत्मा मनुष्य है या पशु है आत्मा में मनुष्यत्व नहीं पशुत्व तो नहीं देवत्व नहीं और स्थूल हम कृष्ण हम गच्छामि हम ये सब प्रामाणिक हो जाएगा यदि अहम सुखी ये प्रमाण हो जैसे हम गच्छामि स्थूल हम कृष्ण हम ये सब जैसे प्रमाण नहीं ऐसा अहम सुखी वाक्य भी ये प्रमाण नहीं है आरोप होता है वैशेषिक मतलब क्या हाँ ये क्या कल्पना करते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न क्योंकि इसका अवयव इसके अवयव से भिन्न ये तर्क कहते ये पुष्प इस पुष्प भिन्न क्यों ये अवयव भिन्न इसका अवयव भिन्न है भिन्न अवयव आरब्धत्वाद एतत् पुष्पम एतस्मात् भिन्नम फिर इसका दो अवयव करेंगे ये अवयव दोनों भिन्न क्यों है इसके अवयव से अवयव भिन्न है फिर इसका दो टुकड़ा करो ये से भिन्न है भिन्न अवयव आरब्धत्वाद इसके दो टुकड़ा करो बिना है बिना व्यवहार धत्वात ऐसे जाते आते द्योण को तो चल जाएंगे एक द्योण को दूसरे द्योण को से भिन्न क्यों है भिन्न परमाणु से आरब्ध हुआ अंत में दो परमाणु दो परमाणु निकाल दिया एक का नहीं दिखने पर तो अनु, अनुमान से सिद्ध हो जाएगा तर्क से दो परमाणु दिखता नहीं देखो दो परमाणु ये परमाणु से परमाणु भिन्न है बोलो बिना व्यवहार धत्वात हेतु लगेगा परमाणु निरवय मानते हैं परमाणु का अवयव नहीं तो इस परमाणु का अवयव इस परमाणु का अवयव एक है अलग-अलग है अवयव है ही नहीं एक आने कैसे होगा दोनों परमाणु निरवय यहाँ कहेंगे तत् परमाणु अस्मात् भिन्न भिन्न अवयव आर्वधत्वात् तो देंगे तो कैसे दो परमाणु में भेद कैसे सिद्ध होगा एक पृथ्वी परमाणु एक जल परमाणु ये दोनों का तो भेद सिद्ध हो जाएगा पृथ्वी परमाणु जल परमाणु से भिन्न गंधवत्वाद पृथ्वीत्व ये तो हो जाएगा जल का दो परमाणु तेज का दो परमाणु इनका भेद कैसे सिद्ध होगा कहते विशेषात ये परमाणु से ये परमाणु भिन्न क्यों ऐसे विशेष है विशेष हेतु तो से भेद सिद्ध होगा अच्छा विशेष इसमें और इसमें है दोनों में दोनों में रहने वाले विशेष एक होगा तो भेद सिद्ध होगा दोनों में रहने वाले विशेष एक होगा तो भेद सिद्ध नहीं होगा दोनों में रहने वाले दो विशेष ये विशेष का भेद क्यों है अयम विशेष अस्माद विशेषात भिन्न क्या कहेंगे भिन्न अव्यवहारत्व कहेंगे नहीं कहेंगे विशेषात तो विशेष के और के विशेष माने क्या विशेष में और विशेष और विशेष माने तो अनवस्था कहते ये स्वतः व्यावर्तक ये विशेष आश्रय का भेदक अपना भी भेदक है अयम विशेष अस्माद् विशेषात भिन्न विशेषात पहले द्रव्य तो हाँ रहता है द्रव्य तो रहेगा द्रव्य तो रहेगा निरवय में द्रव्य तो रहेगा निरवय द्रव्य में आत्मा आकाश काल ये सब द्रव्य मानते निरवय सब में द्रव्य तो रहता है द्रव्य तो रहने के लिए सावय होना कोई जरूरत नहीं हाँ जन्य द्रव्य तो नहीं रहेगा तो जन्य द्रव्य सावय होगा ये अंत में विशेष कल्पना करते हैं तो विशेष दो हुआ आत्मा में भेद सिद्ध करने के लिए विशेष कल्पना करेंगे विशेष रहता है क्या प्रमाण है आत्मा में भेद सिद्ध करेंगे विशेष हेतु के द्वारा आत्मा में विशेष रहता है क्या प्रमाण क्योंकि दोनों भिन्न है दोनों भेद सिद्ध होगा तो विशेष कल्पना करेंगे अरे विशेष से कल्पना होने के बाद भेद सिद्ध होगा आत्मा दो आत्मा जीवात्मा में भेद पहले निश्चय हो जाए कहेंगे इसमें एक विशेष रहता है इसमें एक विशेष रहता है और दो विशेष भिन्न है दो आत्मा पहले भेद सिद्ध हो जाए दोनों में विशेष दो रहते हैं दोनों विशेष भिन्न है और विशेष को हेतु सिद्ध करके आत्मभेद सिद्ध करना विशेष से आत्मभेद सिद्ध करना और विशेष कैसे मानेंगे आत्मा में भेद है तो दो विशेषण तो आत्मा में भेद सिद्ध होने पर विशेष मानेंगे दो और विशेष तो दो और सिद्ध होने पर आत्मा भेद सिद्ध होगा कितना अच्छा तर्क देखो पहले आत्मा दो आत्मा मान लो तो उसमें दो विशेष कल्पना करो और दो विशेष कल्पना करने से क्या होगा अभी यह विशेष है इसलिए आत्मा में भेद सिद्ध हो जाएगा आत्मा में भेद सिद्ध करना है ना पहले दो आत्मा मान लो दो में दो विशेष और ये विशेष या नहीं ये विशेष या नहीं दो विशेष अलग-अलग होने से आत्मा का भेद हो गया इसको कहते वक्कबंध प्रयास वक्कबंध प्रयास क्या मालूम है बगुला को पकड़ना है आप लोग कोई पकड़ सकते बगुला को बगुला है ना देखा है ना आप लोगों ने उसको पकड़ने के लिए बहुत सरल उपाय है आपको मालूम नहीं थोड़ा सा मक्खन लेना उसके धूप के समय होना चाहिए सिर के पर रख दो वो जो पिघल जाएगा ना वो आंख उसमें आ जाएगा वो देख नहीं पाएगा जब नहीं देख पाएगा जाकर पकड़ लो कुछ करना नहीं पड़े हैं रखने के लिए कोई बात नहीं रखने कोई कमरा नहीं पकड़ पहले पकड़ बाद में लेकर कमरा में रखना या छोड़ना है आपके ऊपर कमरा नहीं तो छोड़ दो कोई बात नहीं कि तो पहले पकड़ लो मक्खन थोड़ा रख लो पिघल जाएगा आंख नहीं देख पाएगा जो नहीं देख पाएगा जाकर पकड़ लो यदि मक्खन रख सकते हैं सिर के ऊपर तो उस समय पकड़ नहीं सकते क्या यदि मक्खन रख सकते हैं उस समय मक्खन पकड़ लो और नहीं पकड़े तो मक्खन कौन रखेगा मक्खन नहीं रख मक्खन यदि रख सके उस समय नहीं पकड़ो मक्खन पिघल जाएगा वो नहीं देखेगा जाकर पकड़ना ये बकबंद प्रयास हो व्यर्थ प्रयास करना मक्खन रख सकते जी जिसमें मक्खन रखना उस समय पकड़ो बिना पकड़े मक्खन रख सकते क्या शरीर में जाकर के इसको तो बकबंद भेद सिद्ध देखो दिया है ये कहते हैं आत्मा भेद सिद्ध करने के तर्क करने वाले वैशेषिक मत है तू अंत्य विशेष कल्पना अन्योन्याशय पराहता अंत्य में रहने वाले विशेष कल्पना जो स्वतः व्यावर्तक है कल्पना करते भेद सिद्ध होगा तो विशेष सिद्धि और विशेष के द्वारा भेद सिद्धि यह अनुन्यास दोष है अतो निर्विशेषत्वाद पुंसाम न भेद तात्विक इत्याह विशेष नहीं आत्मा में आत्मा में भेद तात्विक नहीं है हाँ देह में भेद है देह घड़ा में भेद हुआ तो आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है क्या तार्किक से पूछो घड़ा आने के सब घड़ा में आकाश है इसलिए आकाश ही भिन्न भिन्न हो जाएगा क्या इसी वजह देह भिन्न भिन्न है तो आत्मा का भेद हो जाएगा और आत्मा में क्या भेद क्या दिखता है भेद का ज्ञापक लिंग सुख दुख आत्मा में सिद्ध पहले हो तो भेद होगा आत्मा का अतो निर्विशेषत्वाद पुंसा न भेद तात्विक सौक्ष्म भाष्य में देखो सौक्ष्म चैतन्य सर्वगतत्वादि अविशेषे च भेदे तो अभावात सर्वत्र चैत एक बराबरे चेतन सूक्ष्म सौक्ष्म चैतन्यम सर्वगतत्व ज्ञान रूप है बराबरे भेद का हेतु हो ही नहीं आत्मा में भेद सिद्ध कैसे होगा टीका नहीं कच्ची दुखी कच्ची सुखी सुखादि विक्रिया व्यवस्था अन्यथा अनुपपत्या आशय भेद तात्विक कल्प्यते तत्र ये होता नहीं कोई दुखी कोई सुखी ये हो सकता है या सब लोग सुखी एक साथ हो किसका पेट में दर्द है कोई भोजन करे खुश हो रहा है कोई खा नहीं पाता दर्द होता है रो रहा है और दूसरे खा करे खुश होता है तो हो, होता ना नहीं कोई सुखी कोई दुखी ये क्यों होता है सुखादि विक्रिया व्यवस्था अन्यथा अनुपपति अर्थापति अन्यथा क्या आत्मा भेद के बिना कोई सुखी कोई दुखी ऐसा कैसे बनेगा एक ही आत्मा है तो सुखी दोनों होना चाहिए ये कोई सुखी कोई दुखी ये भेद तभी बनेगा आत्मा का भेद हो तो आत्मा भेदम बिना अन्यथा का था आत्मा भेदम बिना सुख दुख आदि व्यवस्था अनुपपत्या सुख दुख का आश्रय भेद तात्विक सुख का आश्रय अलग दुख का आश्रय अलग कल्पित कल्पना करेंगे तत्रह यदि आत्मा में सुख दुख आदि मानेंगे पहले तो सुख दुख का आश्रय किया है जहाँ सुख दुख है वहाँ वेद होगा आत्मा में सुख दुख यदि मानेंगे आत्मा में विक्रिया मानना पड़ेगा विक्रिया मानेंगे तो क्या होगा विक्रियावत्व च जिसमें विक्रिया हो अनित्य हो जाएगा आत्मा अनित्य हो जाएगा विकार कुछ मानेंगे तो सुख और दूसरा है तो क्या है सुख दुखादि विक्रियाणाम उपाधि धर्मत्वाद न आत्मभेद साधकत्वम व्यधिकरण सिद्धत्वादि इत्यर्थ सुखादि विक्रिया किसमें है उपाधि का धर्म है अंतकर्म में सुख दुख आदि है अंतकर्म का धर्म आत्मभेद का साधक हो जाएगा अंतकर्ण का धर्म आत्मभेद का साधक हो जाएगा तो पर्वतस्थ धूम हृदय में बनी साधक हो जाएगा धूम रहेगा पर्वत में और बनी रहेगा हृदय में ये तो हो जाएगा सुख दुख रहेगा अंतकर्ण में उपाधि में अरे भेद सिद्ध होगा आत्मा में ये नहीं हो सकता है क्यों नहीं व्यधिकरण सिद्धत्वात् तो विरुद्ध अधिकरण से सिद्ध है दोनों का अधिकरण सुख दुख आदि अन्यत्र अरे भेद आत्मा में सिद्ध करते हो आत्मत्व के बिना अंतकरण में जहाँ आत्मत्व नहीं वहाँ अंतकरण में सुख दुख है या नहीं आत्मत्व अभावति मनसि सुख दुखम अस्ति न वा अस्ति आत्मत्व तो आत्मा में आत्मत्व नहीं सुख अंतकण में उसमें सुख दुख तार्किक लोग कहेंगे सुख दुख सब आत्मा में हम मानते हैं इसलिए श्रुति को देखना पड़ेगा काम संकल्प विचिकित्सा हेतु बुद्धि सब एत सर्व मन एवं श्रुति कहती इच्छा संकल्प जितने बुद्धि का आत्मा का धर्म मानते बुद्धि सुख दुख इच्छा ये सब मन ही है अंतकरण का धर्म आत्मा का धर्म नहीं है विरुद्ध से उनसे से आत्मभेद का साधक सुख दुख नहीं होंगे किंच न सर्वेरव मोक्ष विक्रिया आदि विशेष इच्छते मोक्ष में कोई विक्रिया नहीं मानते मोक्ष काल में मोक्ष काल में यदि सुख दुख आदि विक्रिया मानेंगे तो मोक्ष क्या होगा मोक्ष क्या है स्वरूप अवस्थान च मोक्ष अपने स्वरूप अवस्थान कोई विकार नहीं तो मोक्ष होगा तत सविशेषत्वम न स्वाभाविकम इत्याह इसलिए आत्मा सविशेष नहीं स्वाभाविक आत्मा में सविशेषत्व तो नहीं है कोई विशेष नहीं निर्विशेष स्वरूप अवस्थान मुख्य है स्वाभाविक नहीं मुख्य च भाष्य में दिया मुख्य च विशेषानुभवगमात मोक्ष में कोई विशेष नहीं है यदि विशेष मानेंगे अभिभगम च अनित्यत्व प्रसंगात जितने में सविशेष सब अनित्य है आत्मा में यदि विशेष मानेंगे तो अनित्य हो जाएगा मोक्ष भी अनित्य हो जाएगा जी जी अभी बंधन अवस्था में भले आप सुख दुख मानो मोक्ष अवस्था में कोई विशेष नहीं रहेगा विशेष रहेगा तो अनित्य हो जाएगा तो मोक्ष काल में सब विक्रिया आदि नहीं मानते मोक्ष में विक्रिया आदि विशेष नहीं मानते तो विक्रिया आदि विशेष नहीं रहेगा तो आत्मा भेद का साधक कैसे होगा सुख दुख आदि अविद्यावत फिर सुख दुख कहाँ है अविद्यावत उपलब्धत्वाच भेदस्य तथ्य अनुपद्रिति सिद्धम एकत्वम भेद तो दिखता है जरूर किसको दिखता है अविद्यावत उपलब्धत्वाच अविद्यावता पुरुषन उपलभ्य अभेद अविद्या है तो भेद दिखता है अविद्या निवृत्त होने से भेद नहीं दिखता है अविद्या एक आवरण और विक्षेप दो रूप है विक्षेप विपरीत प्रत्यय विक्षेप रूप अविद्या कार्य जागर स्वप्न में है आवरण सुषुप्ति में है आवरण सुषुप्ति में है जागर स्वप्न में सुषुप्ति अवस्था में कुछ भेद दिखता है कुछ नहीं दिखता है विक्षेप रूप अविद्या नहीं से भेद नहीं दिखता है जागर स्वप्न में विक्षेप रूप अविद्या से भेद दिखता है ये भ्रांति का कारण जो अविद्या उस विक्षेप का विक्षेप का विक्षेप रूप गुण वाला विक्षेप कार्य वाली अविद्या जागृत स्वप्न में सुश्रुति में नहीं है जब ऐसे अविद्यावत है तब उपलब्ध होता है भेद सुश्रुति अवस्था में भेद दिखता है समाधि अवस्था में नहीं दिखता है टीका में देखो हाँ इसके पूर्व में शुरू हाँ किंच जागृत स्वप्न और अविद्यावद भी भ्रांतेर उपलम्भात जागृत स्वप्न अवस्था में अज्ञानी जो विक्षेप अविद्या है भ्रांत है उनके द्वारा भेद दिखता है सुश्रुति समाधि और भ्रांति अभावे सुश्रुति समाधि भ्रांति नहीं है तो भेद दिखता है अनुपलम्भात जब नहीं दिखता है कभी कभी दिखता है वो मिथ्या है मिथ्यात्म वेदस्य भेद मिथ्या तो सिद्ध है मिथ्या है वास्तव नहीं इत्या अविद्यावत उपलब्धत्वाच भेदस्य तत्क्षय अनुपपतिरिति सिद्धम एकत्वम तो अविद्या निवृत्त होने पर सुख दुख आदि अनुपपति जो कहा तचे अनुपपति एकत्व नहीं होगा भेद अविद्या क्षय होने पर भेद अनुपपति अविद्या से दिखता है न इति भेद नहीं होने से सिद्धम एकत्वम आत्मा में एकत्व निश्चित हुआ एक ही आत्मा है एक ही आत्मा कौन से ईश्वर जीव का भेद नहीं जीवों का भी परस्पर भेद नहीं आत्मा एक है सब के अंदर बाहर जिस प्रकार एक आकाश है घड़ा भिन्न होने पर मठ गुहा करक उपाधि भिन्न होने पर भिन्न भिन्न आकाश प्रयोग शब्द प्रयोग करते घटाकाश मठाकाश गुहाकाश करकाकाश ऐसे कहने पर भी एक ही जैसे आकाश इसी प्रकार अलग-अलग उपाधि से आत्मा भेद का व्यवहार होता है किंतु वस्तुतः तो आत्मा एक है वाच्यार्थ में भेद है लक्ष्यार्थ एक है जीव तत्वमसि में महावाक्य तत्पत का लक्ष्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ तम पत का लक्ष्यार्थ जीव अल्पज्ञ ये दोनों में भेद है जो अभेद कहते वाच्यार्थ में भेद नहीं कहते तत्पद का वाच्यार्थ क्या है सर्वज्ञ तम का वाच्यार्थ तत्पद तम पद का तो शुद्ध चेतन उसमें भेद नहीं अभेद जो कहा जाता है लक्ष्यार्थ में अभेद और भेद मानते किसमें वाच्यार्थ में भेद कैसा भेद व्यावहारिक भेद वाच्यार्थ ही पारमार्थिक नहीं और वाच्यार्थ निष्ठ भेद भी पारमार्थिक नहीं है ओम आप्यायंत ममांगानी